ए ईमान वालो जब जुमे के दिन नमाज जुमा के लिए आजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ जल्दी चल पड़ो और खरीदो फरोख छोड़ दो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो